और जो लोग अपने माल अल्लाह की खुशनुदी तलब करने के लिए और अपने आप में पुख्तगी पैदा करने के लिए खर्च करते हैं उनकी मिसाल ऐसी है जैसे एक बाग किसी टीले पर वाक़ हो उस पर जोर की बारिश बरसे तो वो दुगना फल लेकर आए और अगर उस पर जोर की बारिश न भी बरसे तो हल्की फुवार भी उसके लिए काफी है और तुम जो अमल भी करते हो अल्लाह उसे खूब अच्छी तरह देखता है